या ये कहो कि अगर हम लोगों पर किताब नाजिल हो जाती तो हम उन यहूदियों और ईसाइयों से यकीनन ज्यादा हिदायत पर होते लो फिर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील और हिदायत और रहमत का सामान आ गया है अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को छुटलाए और उनसे मुंह मोड़ ले जो लोग हमारी आयतों से मुंह मोड़ रहे हैं उनको हम बहुत बुरा अजाब देंगे क्योंकि वो बराबर मुंह मोड़ ही रहे